हुक्म मानना और भली बात उनके लिए बेहतर थी फिर जब कताल का हुक्म हतमी हो गया तो अगर वो अपने तर्ज अमल में अल्लाह के साथ सच्चे रहते तो जरूर उनके लिए बेहतर होता